नमस्कार मित्रों आज तारीख है पांच अगस्त 2012 रविवार ये जो वीडियो है वो बोधो आदिवासियों की समस्या के ऊपर है जैसा कि आपने अखबार में पढ़ा होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने दो लाख एक लाख दो लाख शायद दो लाख दो लाख बोधो आदिवासियों को अपना घर छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका जोग्राफिकल साइज दिल्ली से बड़ा होगा वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है पॉपुलेशन डेंसिटी कम है इसलिए दिल्ली जितना बड़ा इलाका है लेकिन आबादी उसकी दो लाख जितनी है और वहाँ बोधो को भागना पड़ा उन्होंने बोधो के घर जला दिए पुलिस बोलती है सिर्फ चालीस को मारा है वहाँ के लोग बोलते हैं चार सौ छह सौ को मार डाला और बड़े पैमाने पे लोगों को घायल किया है उनपे घरों पे कॉकटेल बॉम्ब मोलतो कॉकटेल फेंक के आग लगा दिया और अब वो सब रिलीफ कैंप में हैं और जो तो इस समस्या पे अब क्या कर सकते हैं मतलब ये समस्या एक दिन में तो खड़ी हुई नहीं है बांग्लादेशी घुसपैठिए तो पिछले यूं समझो 1991 जब से मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने ये नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने आईएमएफ एजेंट नरसिम्हा राव और IMF agent uh, Manmohan Singh तब से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और uh, जो वो धीरे धीरे आदिवासियों को भागने के लिए मजबूर कर रहे थे लेकिन एक पॉइंट आ गया कि आदिवासी के पास भागने की जमीन नहीं मिली तो उन्होंने प्रतिकार किया प्रतिकार में कुछ चार पांच बांग्लादेशी मारे गए तो बांग्लादेशी फिर पूरी तैयारी के साथ आए और उन्होंने 40-50 बुद्धों को मार डाला शायद ज्यादा अभी तो 450 मतलब 400-500 बोला जाता है और इतनी तैयारी के साथ आए थे कि बोधो आदिवासियों को उनका घर छोड़ के भागना पड़ा आप अखबार पढ़ोगे तो हर जगह शब्द आएगा मुस्लिम सेटलर कहीं भी इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर ये शब्द नहीं आएगा आप पेड इंडियन एक्सप्रेस ले लो मैं इंडियन एक्सप्रेस को पेड इंडियन एक्सप्रेस बोलता हूँ जितने भी अखबार है उनके सामने पेड प्रिफिक्स लगा देना चाहिए जैसे नाम के आगे श्री लगाते हैं या तो दाऊद के पीछे भाई लगता है गौली के पीछे भाई लगता है वैसे हर एक पेपर के आगे पेड प्रिफिक्स लगा देना चाहिए paid Indian Express paid Times of India paid Hindu paper paid India Today paid Frontline वगैरह तो ये जो पेड न्यूज पेपर्स है उनको सऊदी अरेबिया से पैसा आता है उनके मालिकों को इसलिए उन्होंने कहीं भी इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर या गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठ ये शब्द नहीं रखा उन्होंने हर जगह शब्द लिखा है मुस्लिम सेटलर यानी कि वो शब्द यूज करते मैं नहीं करता वो उनके लिए शब्द बेचारे यूज करते कि बेचारे मुस्लिम बेघर है जो कि घर तलाश रहे थे और उनकी बोधों से मुठभेड़ हो गई तो इससे स्पष्ट दिख रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को मीडिया का बहुत बड़ा समर्थन है क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो पेड टाइम्स ऑफ इंडिया को खरीद सके या पेड इंडियन एक्सप्रेस को खरीद सकते वो पैसा उनके आका सऊदी अरेबिया के शेख भेजते हैं उनको पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है भारत में इस्लाम फैलाना है इसलिए वो कहते हैं कि यदि बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़े पैमाने पर आसाम में घुस जाते हैं तो एक पॉइंट के बाद आसाम को भारत से अलग किया जा सकता है और चीन भी उसमें उनकी मदद कर रहा है अब जो समस्या का उपाय के लिए मैंने एक बहुत वीडियो बनाई थी जनवरी के महीने में 12 जनवरी 2012 इस साल की कुछ पाँच छह एक महीने पहले मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया था गुजरात समाचार में क्योंकि पेड इंडियन एक्सप्रेस ने मेरा एडवर्टाइजमेंट लिया नहीं बांग्लादेशी घुसपेटियों पे जो था इसलिए फिर मैंने ये गुजरात समाचार में दिया और उसमें मैंने इस समस्या का वर्णन किया था और उपाय का भी कि और वो मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो भी है वो एक घंटे का वीडियो है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से क्या समस्या हो सकती है और मैंने एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि बांग्लादेशियों की संख्या यदि बढ़ गई तो आसाम में 1947 जैसे हालात हो सकते हैं मतलब जो आज हुआ वो पूरा हालात वो एक शब्द में एक वाक्य में आ गया कि 1947 जैसे हालात हो सकते हैं कि जैसे 1947 में पाकिस्तान का जो इलाका है वहां से कुछ दस लाख हिंदू उनकी हत्या हो गई कुछ को जिंदा जला के कुछ को छुरा भोंक के किसी को जिंदा गाड़ दिया गया किसी का किसी को जिंदा ही उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी दस लाख पंद्रह लाख हिंदुओं की हत्या हुई थी कुछ बीस तीस लाख का अपहरण हुआ था और चार करोड़ को भागना पड़ा उनकी पैसा वैसा सब कुछ पीछे छूट गया थोड़ा बहुत जो ले आए वो ले आए बाकी सब छूट गया और उनको भागना पड़ा और वो परिस्थिति आसाम में दोबारा हो सकती है वो मैंने 12 जनवरी 2012 के एडवर्टाइजमेंट में लिखा था और आज उसका हमें एक ट्रेलर तो देखने मिल गया कि दो लाख बोधों को अपने घरों घर छोड़ के भागना पड़ा अब बाकी पार्टियों का रवैया क्या है तो बीजेपी के अधिकतर नेता उसको डाउन प्ले कर रहे हैं वो इग्नोर नहीं कर रहे पर डाउन प्ले कर रहे हैं कि भाई ये तो एक बहुत छोटी समस्या है आने वाले दिनों में हल हो जाएगी बस आप नरेंद्र मोदी को पीएम बना दो या बीजेपी को दोबारा पावर में डाल दो लेकिन अब जो भी है उनका जो छह साल का सात साल वो पावर में रहे 1998 टू 2004 2005 तो उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया वो सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से सऊदी अरेबिया की लॉबियों ने अडवाणी प्रमोद महाजन इन सारे और ये अरुण शौरी अरुण जेटली इन सारे सांसदों को खरीद लिया और उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए और निकालने के लिए जो कानून बनाने थे इन महाशयों ने ये कोई कानून पास नहीं होने दिए तो अभी गडकरी तो इन सबसे भी गए गुजरे हैं नरेंद्र मोदी से जिसको भी उम्मीद हो लेकिन एक बात है कि अहमदाबाद में पच्चीस हजार बांग्लादेशी है सूरत में उससे ज़्यादा है तो और उसको निकालने के लिए अभी कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ फिर कहने के लिए कोई कह सकता है कि भाई आसाम में तो 50 लाख है और मैं इस 25,000 को क्यों मुद्दा बनाऊँ आसाम में 25 लाख बांग्लादेशी है तो मैं इस 25,000 को क्यों मुद्दा बनाऊँ तो भाई क्या इंतजार करना है कि अहमदाबाद के 25,000 है वो भी किस दिन 5 लाख हो जाए और तभी समस्या का हल लाना है अभी पच्चीस हजार है तो अभी समस्या को खत्म करो पर उसका उनका मुझे कुछ खास रुख नहीं लग रहा बाकी नेता तो उनसे भी महान है कांग्रेस तो ओपनली सपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेशियों को घुसने दो मतलब कोई कहे कि भाई आसाम में पच्चीस लाख है तो पच्चीस लाख और आने दो उनको तो कांग्रेस के एमपी को तो मैं कहूंगा कि अहमदाबाद में पच्चीस हजार है तो वो तो कहेगा कि इतने कम है दो पांच लाख को और ले आते हैं सीपीएम भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थक है जो भी घुसपैठी गैरकानूनी बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में जाता है तो उसको राशन कार्ड इलेक्शन कार्ड निकलवाने के दस हजार रुपये लगते हैं जिसमें से खुद बुद्धदेव भट्टाचार्य उसमें उसका हिस्सा रखता था कि भाई एक बांग्लादेशी घुसपैठिए के राशन कार्ड और ये वोटर कार्ड निकालने का मुझे दो हजार तीन हजार मिलना चाहिए ममता बनर्जी भी वही है ममता बनर्जी के आने के बाद तो पहले तो बांग्लादेशी घुसता था और वो अपना गैर कानूनी राशन कार्ड और इलेक्शन कार्ड बनवाता था अब तो कोई बांग्लादेशों का एजेंट आता है वो थैला भर के राशन कार्ड और इलेक्शन कार्ड बनवाता है वो थैला लेके बांग्लादेश जाता है और वो बांग्लादेशी है वो इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड साथ के साथ ही बाहर आता है मतलब ममता बनर्जी के आने के बाद तो हालत इतनी खराब हो गई कि अब ट्रक भर भर के ट्रेन भर भर के बांग्लादेशी आ रहे हैं तो ये सारे नेता जो है वो तो समर्थन कर रहे हैं और इसमें जो नए नए नेता हैं अन्ना हजारे वो भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक हैं अरविंद गांधी वो भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक है आप उनको फोन करके या ट्विटर से क्वेश्चन पूछ लो कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए क्योंकि नार्को टेस्ट के बिना प्रूव करना आसान नहीं है कि ये बांग्लादेशी है या नहीं और बांग्लादेशी को कोड़े मारने की सजा होनी चाहिए क्योंकि तो यदि कोई गैर कानूनी कोई हिंदुस्तानी यदि गैर कानूनी बांग्लादेश में घुसता है तो उसको मिनिमम 500 कोड़े मारे जाते हैं बांग्लादेश में आज भी कोड़े मारने की सजा है उसे 100 से 500 कोड़े मारे जाते हैं तो ये और कोड़े मारने की सजा को international human rights commission Geneva ने भी उसको मंजूरी दी है गैर कानूनी है भारत में गैर कानूनी है लेकिन कानून पास करके उसको कानूनी बनाया जा सकता है हर एक के लिए मैं नहीं बोलता लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठी है भारत में वो एक बार साबित हो जाने के बाद कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसको कोड़े मारने की और फांसी की सजा होनी चाहिए तो अब मैं उपाय बताता हूँ इस समस्या का कि जितने भी आपको पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं उनको पूछो कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के आप कानून के ड्राफ्ट दो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के जो मैंने प्रस्तावित कानून है मेरा फेसबुक पे एक एडवर्टाइजमेंट है गुजरात समाचार में वो आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल में देख सकते हैं और इसमें रा, Rahul Mehta dot com Rahul Mehta dot com slash three zero one dot P D F में chapter thirty three chapter thirty three में मैंने दिया है reducing Bangladeshi inflow and expelling दम कि कैसे बांग्लादेशियों घुसपैठियों को आने से रोका जा सकता है और जो है उनको कैसे निकाला जा सकता है वो सॉल्यूशन में बहुत ब्रीफ में बताऊंगा एक पूरी एक घंटे की वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी मिलते हैं पहले फोन कॉल सारे सेल फोन के रिकॉर्ड पुलिस कमिश्नर मंगाए और उसमें देखे कि कौन आदमी बहुत ज्यादा बांग्लादेश से बात करता है उसको फोन आते हैं या फोन करता है तो इस तरह से एक प्राइमा फेसी लिस्ट मिल गया तो उससे पहले जरूरी है right to recall police commissioner क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल सीएम और right to recall police commissioner नहीं हुआ तो सीएम और पुलिस कमिश्नर वो हफ्ता लेके बैठ जाएंगे कुछ करेंगे नहीं जैसा कि आज हो रहा है ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो पुलिस कमिश्नर को बहुत प्रिय लगते हैं क्योंकि वो जो हिंदू क्रिमिनल है उसे तीन चार गुना ज्यादा हफ्ता देते हैं इसलिए आप भारत में कहीं भी चले जाओ फिर वो गुजरात हो या आसाम हो या ये महाराष्ट्र हो या बॉम्बे हो या गुड़गांव हो या दिल्ली हो आप कहीं भी हिंदुस्तान में चले जाओ वहां का जो पुलिस कमिश्नर है उसको बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत प्रिय लगते हैं क्योंकि बांग्लादेशी गुंडे हैं वो हिंदू गुंडों से तीन चार गुने ज्यादा पैसा देते हैं तो right to recall police commissioner आने के बाद ही कोई ठोस कार्यवाही इस बात पे शुरू होगी तो पुलिस कमिश्नर है वो फोन कॉल लिस्ट लेके आइडेंटिफाई करे कि भाई कौन बांग्लादेशी है प्राइमा फेसी लिस्ट उसके बाद बांग्लादेश में उनके जो रिश्तेदार है उनको कहा जा सकता है कि आप अपना ब्लड सैंपल दो और प्रूव होने के बाद कि आपका ब्लड रिलेटिव आपको पचास हजार का इनाम मिलेगा तो एक डीएनए टेस्ट से प्रूव हो जाएगा उसके बाद ज्यूरी ट्रायल होना चाहिए जज ट्रायल नहीं होना चाहिए वो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कि आदमी बांग्लादेशी है या भारतीय वो ज्यूरी से तय करना चाहिए जज से नहीं क्योंकि जज तो दस साल लगा देगा और उसके बाद सुप्रीम में जाएगा तो अब कसब जैसे को फांसी लगाने में जो जज साल डेढ़ साल का टाइम पास कर सकते हैं वो जज बांग्लादेशियों का केस करने में तो दस साल निकाल देगा और इस तरह से एक करोड़ बांग्लादेशियों का केस दस दस साल लग जाएगा तो उनको निकालने में दस करोड़ साल निकल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को तो वो जूरी से होना चाहिए जूरी महीने दो महीने हफ्ते दो हफ्ते में फैसला दे देती है और जूरी में नार्को टेस्ट इन पब्लिक जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है दो सबूत मिल जाए फोन कॉल और ब्लड सैंपल डीएनए तो उसके बाद उसका नार्को टेस्ट इन पब्लिक होना चाहिए और प्रूव होने के बाद उसको कोड़े मारने की सजा और फांसी की सजा हो तो हजार दो हजार को कोड़े मारे जाएंगे सारे बांग्लादेशी भाग जाएंगे किसी को कोड़े मारने की सजा और फांसी की सजा को रुकने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह से कोड़े मारने की सजा और फांसी की सजा के द्वारा हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से निकाल सकते हैं तो ये आप प्रपोजल मैं कहूँगा कि जितने भी भारत में कार्यकर्ता है अन्ना और अरविंद गांधी और ये आ, जो उनके दूसरे सदस्य है और कांग्रेस के एमपी बीजेपी के एमपी इन सबको आप पूछो वो जब मना करेंगे कि नहीं उनको कोड़े नहीं मारे जाने चाहिए उनको फांसी नहीं होनी चाहिए उनका नार्कोटेस्ट नहीं होना चाहिए तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों की असली नीयत क्या है अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी हो सके जल्दी इस पे कुछ किया जाए एक, एक तरह से तो मुझे काफी दुख हुआ कि देश में दो लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और हमारे राइट टू रिकॉल ग्रुप के सिवाय एक भी पॉलिटिकल ग्रुप में रुचि नहीं दिखाई अन्ना का ग्रुप ठंडा है बस वो अनशन के आजू आजू बाजू घूम रहा है बीजेपी वालों को एक ही धंधा है कि भाई मोदी साहब को पीएम बनाओ और किसी प्रॉब्लम में उनको इंटरेस्ट नहीं है ना बांग्ला न बोधो को बचाने में इंटरेस्ट है ना बाकी बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने में इंटरेस्ट है कांग्रेस से तो कोई उम्मीद ही नहीं है वो तो पैसा बटोरने के सिवा कोई धंधा ही नहीं बचा और कम्युनिस्ट पार्टी है वो तो बस लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन की हम बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे पूरी दुनिया में अमन चमन हो जाएगा तो ये एक भी पॉलिटिकल ग्रुप है जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा मेरे राइट टू रिकॉल ग्रुप के सिवा वो देख के मुझे बहुत दुख होता है तो मैं आप सब एक्टिविस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सारा एक्टिविज्म 10 परसेंट बीस परसेंट कम करके मान लो आप हफ्ते में बीस घंटा एक्टिविज्म करते हो तो बीस घंटे में से दो घंटा बाकी एक्टिविटी पे कम करके दो घंटा बांग्लादेशियों के समस्याओं के ऊपर दो ताकि समस्या का हल आ सके धन्यवाद